और बिलाशुबा यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और हमने उसे देखने वालों के लिए मुजयन कर दिया है